विषिगल्बहुरातीतम् छन्दो विर्विविधै पृथक् महाभूतानि हङ्कारो बुद्धिरव्यक्षमेव च पञ्चचेन्द्रियोपरा क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझको ही संभव तो शंकरानंद जी ने तो इसका अर्थ ये किया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नाम माम बुद्धि क्योंकि श्लोक में चापी पद जो पड़ा हुआ है उसका अर्थ होता है भी क्षेत्रज्ञ भी मुझे समझो उसका अर्थ कोई और है जो मुझे समझो तो वो और क्या है तो बोले कि क्षेत्र क्षेत्र भी मैं हूँ क्षेत्र भी मैं ही और में भी मैं तो आप सुनते हैं वेदांत में सर्वम संवेदम ब्रह्म जो कुछ है सब ब्रह्म ही है ये तो बिंदु में मैं की जो कल्पना है उसके कारण यह मालूम पड़ता है अगर हम अपने मय में परिच्छिन्नता का अभ्यास न करें परिच्छिन्नता की कल्पना न करें तो यह पृथक मालूम ही न पड़े असल में मैं और यह दोनों ज्ञान के ही विवर्त हैं एक अखंड ज्ञान है वो मैं के रूप में भाग रहा है और यह के रूप में भी भाग रहा है देह में मैं है और बाहर ये तो कल सुनाया था कि वेदांतियों में एक बाघ सामानाधिकरण मानते हैं और एक मुख्य सामानाधिकरण मानते हैं सामानाधिकरण का अर्थ क्या है जैसे कोई बोले कि सर्प रज्जू ही है तो यह चांदी सही है या पुरुष तो सही है तो सही है तो यहाँ दो चीज नहीं है एक ही चीज है रस्सी है स्टीप है ऊँच है वहाँ कोई चांदी या कोई सांप या कोई मनुष्य नहीं है तो इसको बोलते हैं बाघ सामानाधिकरण माने अन्यत्व जहाँ मिथ्या हो गया सर्प है ही नहीं तो सर्प रज्जू है ये कहने का क्या अभिप्राय हुआ बोले सर्प नहीं है इसीलिए तो उसको रज्जू बोलना है इसको बाघ अधिकरण बोलते और जब बोलते हैं कि घटाकाश और मठाकाश दोनों एक ही है कंगन और हार दोनों एक ही है तो इसको मुख्य सामान में बोलते हैं क्योंकि दोनों सोना है तो ये क्षेत्र और क्षेत्र बिंदु है ये ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में ये और मैं मैं और यह ये यह भी ज्ञान से प्रकाशित है और मैं भी ज्ञान से प्रकाशित है तो यह और मैं वस्तु नहीं है ब्रह्म ही वस्तु है प्रपंच और प्रपंच में जो जीवात्मा है दोनों का बाद होकर के ब्रह्म एक प्रक्रिया ये है और दूसरी ये है कि प्रपंच बाधित होकर के ब्रह्म है और आधार नहीं कूटस्थ है और कूटस्थ जो है वो मुख्य रीति से मुख्य सामानाधिकरण से ब्रह्म है ऐसा वेदांत का विचार के संबंध में है वो तो जो लोग पंचदशी विचार सागर आदि की प्रक्रिया करते हैं उनकी समझ में जरा जल्दी आ जाएगा और नहीं तो समझो कि एक संस्कार ऐसा डालते हैं कि कभी उनके मन में जिज्ञासा होगी तो इसको समझने की कोशिश करेंगे क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम जब तक ज्ञानम मतम ममा तो इसके पहले एक बात और समझ लें कि भगवान ने कहा कि माम बुद्धि ये जो हर क्षेत्र की उपाधि से क्षेत्रज्ञ के रूप में आत्मा मालूम पड़ता है इस शरीर में एक क्षेत्र दूसरे शरीर में दूसरा क्षेत्र तीसरे शरीर में तीसरा क्षेत्र ऐसा जो मालूम पड़ता है तो जरा क्षेत्र का ख्याल छोड़ करके क्षेत्रज्ञ के संबंध में विचार करो तो क्षेत्र के संबंध से ही क्षेत्रज्ञ में परिच्छिता है क्षेत्र के संबंध का परित्याग कर देने पर क्षेत्रज्ञ में किसी प्रकार से भी परिच्छिता नहीं है तो ये बात बताई कि क्षेत्रज्ञ चापिमान बुद्धि अर्थात जो तुमको मालूम पड़ता है कि शरीर वाला मैं काला मैं गोरा मैं ब्राह्मण मैं सन्यासी मैं हिंदू मैं मनुष्य मैं ऐसा जो मैं मैं मालूम करता है ना तो मैं का कोई विशेषण मत लगा पापी मैं पुण्यात्मा मैं सुखी मैं दुखी मैं नरक स्वर्ग में जाने आने वाला मैं परिचिन मैं ऐसा जो अपने मैं के साथ विशेषण जोड़ते हैं उनको जरा छोड़ दो उनके सब विशेषणों के और उपाधियों के छोड़ देने के बाद जो मैं है वो तो असंसारी है वो पापी कोई आत्मा नहीं है वो सुखी दुखी नहीं है वो नारती स्वर्गी नहीं है और वो परिच्छिन्न भी नहीं है वो तो साक्षात परमेश्वर असंसारी परमात्मा पर ब्रह्म है तो मान बुद्धि का अर्थ है कि संपूर्ण उपाधियों का निरसन हो जाने के बाद ब्रह्मा से लेकर के एक कीड़े तक की जितनी उपाधियां हैं इन उपाधियों में क्षेत्र में अलग अलग मालूम पड़ता है ये कीड़ा है और ये ब्राह्मण है और ये महात्मा है और ये ब्रह्मा है परंतु यदि शरीर रूप उपाधियों का परित्याग कर दिया जाए तो वो कौन है बोले वो तो निरस्त सर्वोपाधि भेदान संपूर्ण उपाधियों के भेद से रहे सब सदाधि शब्द प्रत्यया गोचराम का उसको अस्थि नास्ति ये सब प्रत्यय उसके साथ नहीं जुड़ते हैं तो वो तो ब्रह्म ही है दुनिया में बस यह और मैं ये दो ही चीज मालूम पड़ती हैं और इनकी जहाँ एकता है खात्म है जहाँ जड़ और चेतन का भेद नहीं रह जाता तो बोले फिर सब जड़ ही होगा तो ये अनुमान है सब चेतन तो ही रहता है ये अनुभव है और सब जड़ ही रहता है ये अनुमान है आप जानिए जगत के मूल में सब जड़ है ये बात आप देह में मैं करके अनुमान करते हैं कि जब ये सृष्टि नहीं थी तब जड़ था या नहीं रहेगी तब जड़ रहेगा लेकिन अनुभव जब करते हैं तो ये देखते हैं कि जब सृष्टि का भान नहीं होता तब मैं तो सब चेतन ही है ये तो अनुभूति है और सब जड़ ही है ये केवल अनुमान है और अनुमान भी सच्चा नहीं झूठा है क्यों तो व्याप्ति ग्रह हुए बिना अनुमान नहीं होता ये का शिक्षक है जो रसोई घर में अग्नि और धुएं का संबंध देख लेता है वो पहाड़ में अग्नि का अनुमान कर सकता है तो सारी सृष्टि के न होने पर जड़ ही है ये जो देख लेगा वही ना अनुमान करेगा की सृष्टि के न रहने पर जड़ होता है तो जिसने देखा वो तो चेतन है, है? इसलिए सब जड़ ही है ये अनुभव का विषय कभी नहीं हो सकता ये अनुभव के मार्ग से चुप है ये सिद्धांत ही अनुभव के मार्ग से चुप है कि सब जड़ ही है तुम भी जड़ और मैं भी जड़ और वह भी जड़ है और जड़ ही जड़ तो ये बात अनुभव के मार्ग से गिरी हुई है क्यों गिरी हुई है कि ये बात जिसने देखी वो मौजूद है और यदि किसी ने नहीं देखी तो कल्पना कर रहा है, है? इसलिए गलत अनुमान के बल पर अनुमानाभास के बल पर जगत के मूल में जड़ सत्ता सिद्ध की जाती है और अनुभूति की दृष्टि से अखंड चैतन्य की ही सिद्धि होती है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान यज्ञानम मतम ममा तो ज्ञान किसको कहते हैं अब दो तरह से इस श्लोक का अभिप्राय निकलता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम जब तत् ज्ञानम जिस ज्ञान से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों जाने जाते हैं ज्ञान क्या है तो ज्ञान वो है जिससे जीव भी जाना जाए ईश्वर भी जाना जाए जगत भी जाना जाए विषय क्रिय थे कारण की उपाधि से ईश्वर जाना जाए कारण की उपाधि से जीव जाना जाए जिस ज्ञान से व्यक्ति की उपाधि से जीव जाना जाए समष्टि की उपाधि से ईश्वर जाना जाए तो जानना जो है ये तो ज्ञान है और जो जाना जाए तो ज्ञान का विषय है तो जानना तो अपने साथ रहता है अपने स्वरूप अपना स्वरूप है जानना और क्षेत्र और क्षेत्र के जो है ये ज्ञान के विषय है तो हमारे मत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे मत में ज्ञान का स्वरूप क्या है बोले मेरे मत में ज्ञान का स्वरूप है क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों का अधिष्ठान होना क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों का प्रकाशक होना क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों जिससे प्रकाशित होए अनुभव के विषय होए वो हमारे मत में ज्ञान का स्वरूप है दो बार ज्ञान है तो आप देखना क्षेत्र क्षेत्र और ज्ञानम यत तप मम मतम ज्ञानम ज्ञानम दो बार है ना अगर एक बार होता तो दूसरा अर्थ होता और दो बार होने से दूसरा अर्थ हो गया अब इसको दूसरी तरफ से लगाते हैं वो कैसे कि जब क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम तक मम ज्ञानम मतम जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का प्रकाशक ज्ञान है वो मेरा स्वरूप भूत ज्ञान है मैं वही मैं हूँ मैं वो ज्ञान हूँ जिसका मालूम पड़ता है या मेरे मत में वो ज्ञान है मम मतम ज्ञानम मेरे मत में वह ज्ञान का स्वरूप है तो नहीं नहीं वो मेरा ज्ञान है मेरा स्वरूप भूत ज्ञान है ये तो श्लोक के शब्द पकड़ के मैंने ये बात सुनाई अब जरा आपको थोड़ी सी ज्ञान की महिमा सुना देते हैं आप देखो आंख से आप तुलसी का पत्ता भी देखते हो और खड़ी भी देखते हो तो तुलसी का पत्ता और खड़ी दोनों अलग अलग होने पर भी आपका जो ज्ञान है वो अलग अलग नहीं है जैसे घड़ी जिस प्रकाश में देखी जा रही है उसी प्रकाश में तुलसी का पत्ता देखा जा रहा है और जिस आंख से घड़ी देखी जा रही है उसी आंख से तुलसी का पत्ता देखा जा रहा है और जो मैं आंख से घड़ी को देख रहा हूँ वही मैं तुलसी के पत्ते को भी देख रहा हूँ तो प्रकाश में फर्क नहीं है जिस प्रकाश में घड़ी उसी प्रकाश में तुलसी जिस आत्म में घड़ी उसी आंख में तुलसी और जिस मय में घड़ी उसी मय में तुलसी मानव विषय के भेद से ज्ञान का भेद नहीं होता है आपके पास तराजू हो और उस पर एक बार एक मासे की चीज तोले और दूसरी बार तोले भर की तोले और तीसरी बार छठाक भर की तोले तो तराजू तो अलग नहीं होती है ना तराजू अलग नहीं होती है इसी प्रकार ये संसार के जो विषय जाने जाते हैं ये तो आपकी बात बताई आपके के जो विषय हैं हरी तुलसी का पत्ता आदि फूल लाउड स्पीकर पुस्तक इनके भेद से ज्ञान में भेद नहीं हुआ एक बात अच्छा अब दूसरी बात देखो कि इंद्रिय के भेद से भी ज्ञान में भेद नहीं होता है जो मैं आपसे तुलसी के पत्ते की हरियाली देख रहा हूँ वही मैं नाक से तुलसी की गंध सुन रहा हूँ एक ही को तो मालूम पड़ता है ना गंध और रूप दोनों की अलग अलग को तो मालूम पड़ता है, है? तो नाक के रास्ते से जो सुनने वाला है आंख के रास्ते से वही देखने वाला है तो ये निश्चय हुआ ना कि आंख और नाक तो दोनों अलग अलग हैं लेकिन ज्ञान अलग नहीं है तुलसी का हरा रंग अलग है और तुलसी की सुगंध अलग है और उनको देखने के लिए आंख अलग है और नाक अलग है लेकिन ज्ञान अलग नहीं है ये ज्ञान के पेट में तो दोनों आते जाते हैं अच्छा अब देखो जब सात बजा था तब भी हमने घड़ी देखी थी और जब साढ़े सात बजा था तब भी मैंने घड़ी देखी थी और जब आठ बजने वाले हैं तब भी मैं घड़ी देख रहा हूं तो टाइम तो अलग अलग हुआ लेकिन जिसने सात बजे देखी घड़ी उसी ने साढ़े सात देखी उसी ने आठ बजे देखी समय तो बदलता जा रहा है और देखने वाला ज्ञान जो है वो एक है इसका अर्थ है कि रात देखने वाला दिन देखने वाला है और पंद्रह दिन देखने वाला और छह महीना देखने वाला और सृष्टि के आदिकाल और अंतकाल की कल्पना करने वाला बिल्कुल एक ही है तो काल के भेद से भी ज्ञान में देखने नहीं होता ये आपने देखा तुलसी को हमने जरा से नंगे के रूप में भी देखा था फिर बड़ी रूप में भी देखा फिर उसमें फूल आ गए फल आ गए उसमें मंजरी आ गई तब भी हमने उसको देखा और वो सूख गई तब भी हमने देखा तो तुलसी के अनेक रूप मैंने देखे इसको बात क्या निकली कि एक इंद्रिय के ही भिन्न भिन्न विषय होने से ज्ञान में भेद नहीं होता कोई कहे कि खड़े का ज्ञान नष्ट हो गया तब कपड़े का ज्ञान पैदा हुआ तो बोले नहीं खड़ा हट गया कपड़ा आ गया और कपड़ा हट गया घड़ा आ गया लेकिन ज्ञान तो बिल्कुल एक ही रहा तो एक इंद्रिय के विषयों के बदलने से भी ज्ञान नहीं नष्ट होता और सब इंद्रियों के विषयों के बदलने से भी ज्ञान नष्ट नहीं होता इंद्रियों के बदलने से भी ज्ञान नष्ट नहीं होता लेकिन ज्ञान तो देखते हो नहीं कहा तो एक इंद्रिय के विषयों के बदलने से भी ज्ञान नहीं नष्ट होता और सब इंद्रियों के विषयों के बदलने से भी ज्ञान नष्ट नहीं होता इंद्रियों के बदलने से भी ज्ञान नष्ट नहीं होता है और देश भिन्न भिन्न होने पर भी ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं होता ये कई ज्ञान पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सबको एक साथ नहीं अलग अलग काल में हो प्रकाशित करता है अलग अलग देश प्रकाशित करता है ऊपर नीचे बाहर भी सब ऐसे काल के भेद से भी ज्ञान नहीं होता अलग अलग वो पहले बताया आपको तो विषय के भेद से इंद्रिय के भेद से देश के भेद से काल के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता अब देखो अंतकरण में जागृत स्वप्न सुसुप्ति के भेद से भी अवस्था के भेद से भी ज्ञान का भेद नहीं जिस मैंने सुसुप्ति को देखा उसी मैंने स्वप्न को देखा उसी वही मैं अब जागृत को देख रहा हूँ तो अवस्था के भेद से भी ज्ञान का भेद नहीं हुआ है? अब कहो कि एक बार मैं पापी था और एक बार पुण्यात्मा था तो अपने को पापी जानने वाले भी तुम्ही थे और अपने को पुण्यात्मा जानने वाले भी तुम्ही थे तो पाप और पूर्ण कर्म के भेद होने से भी तुमने भेद नहीं हुआ तुम्हारे ज्ञान स्वरूप में भेद नहीं हुआ बोले एक बार मैंने दोस्ती की और एक बार दुश्मनी की बोले राजा द्वेष बदल जाने से भी तुम्हारे ज्ञान में कोई फर्क नहीं हुआ वो तो शीशे की तरफ निर्बल है ना दुश्मन आया तो देश प्रकाशित हो गया और दोस्त आया तो राज प्रकाशित हो गया और राज देश दोनों चले गए और सुसुप्ति में दोनों का कुछ पता नहीं और तुम ज्ञान स्वरूप है बोले कि भाई सुखी दुखी होने से ज्ञान में फर्क पड़ जाता है सुख का ज्ञान और दुख का ज्ञान और तो ये सब क्षेत्र है इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना वृद्धि एक सब क्षेत्रम समासेना स्विकार उदाहरतम क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम जब तक ज्ञानम मतम ममा एक बार आपके ज्ञान में एक साल हुआ कि मैं सुखी हूँ और एक बार ये ख्याल हुआ कि मैं दुखी हूँ ये दोनों ख्याल हुए ज्ञान नहीं है बोला क्यों देखो झूठी खबर आ जाती है ना घाटे की सेठ जी को तार आ गया कि लाख रुपए का घाटा हो गया और दुखी हो गए है ना फिर खबर आई कि नहीं नहीं घाटा नहीं हुआ है तो व्यापार ठीक है अपनी मनोवृत्ति की तो बात है ना हाँ, एक बार ख्याल हुआ कि इतनी चीज हमारी छिन गई तो दुखी हो गए फिर आया नहीं नहीं छिनी नहीं गई है वो तो अपनी है, है? तो देखो वो दुख मिट गया तो दुख का होना और दुख का मिटना सुख का होना और सुख का मिटना ये ख्याल में तो हुआ लेकिन दोनों का प्रकाशक जो ज्ञान है वो जो का क्यों रहा तो सुखी दुखी सुखी पड़े और दुखी पड़े के भेद से भी ज्ञान में भेद नहीं होता राजद्वेश के भेद से नहीं होता पाप पुण्य के भेद से नहीं होता अच्छा एक बार विक्षेप हुआ और एक बार शांति हुई आज मन में बड़ा विक्षेप है कितना विक्षेप है सारे मन तो चाक की तरह घूम रहा है एक बार नानी की याद आती है तो एक बार शादी की याद आती है तो एक बार शादी की याद आती है तो एक बार गमोई की याद आती है एक बार रुपए की एक बार औरत की तो इतनी इतनी यादें आ रही हैं तो आज तो बड़ा विक्षेप है पर ये तुम में विक्षेप नहीं है है ना ये ज्ञान जो है ये तो इस विक्षेप को प्रकाशित कर रहा है इतना विक्षेप जैसे कोई नाटक में नाचती हुई नर्तकी है ना चाहे हाथ से मना करे कि हट जाओ यहाँ से और चाहे उंगली के इशारे से बुलावे तुम नाटक में दोनों को देखते हो इसी प्रकार ये जो तुम्हारा ज्ञान है ये तो तुम्हारा ख्याल तुम्हें बुलावे अपनी ओर और चाहे तुम्हें हटाए तुम दोनों के प्रकाशक हो उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो तो बदल जाएगा ये तो थोड़ी देर का नाटक है जिसमें अटक मत हाँ, नाटक माने न अटक न अटक इसमें अटक मत ये तो नाटक है नाटक बैठा देखो स्मृति विस्मृति से भी ज्ञान का नाश नहीं होता आप देखो बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम बात है विक्षेप आने से ज्ञान का नाश नहीं होता और समाधि आने से भी ज्ञान का नाश नहीं होता क्यों बोले समाधि आई और टूट गई घंटे भर की समाधि लगी छह महीने की समाधि लगी दस हजार बरस की समाधि लगी है ना समाधि तो काल में होती है जब काल का ही ज्ञान पर असर नहीं पड़ता तो समाधि का क्या असर पड़ेगा समाधि तो काल की बच्ची है और विक्षेप भी काल का बच्चा है स्मृति और विस्मृति नारायण क्या तुमको खड़ा भूला हुआ था तो खड़ा नष्ट हो गया था कि घड़े का ज्ञान नष्ट हो गया था अच्छा इस समय जिसकी याद तुम्हें नहीं आ रही थी है ना वो चीज नष्ट हो गई थी कि उसका ज्ञान नष्ट हो गया था न ज्ञान नष्ट हुआ न चीज नष्ट हुई क्योंकि वो तो फिर तुमको उसका ज्ञान तो ही है जिस समय तुम घड़ा भूले हुए थे अब हमने घड़े का नाम ले दिया तो बड़ा याद आ गया तो क्या घड़े का ज्ञान तुम्हारा नष्ट हो गया था तो घड़े का ज्ञान नष्ट नहीं हुआ था तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ज्ञान ऐसी वस्तु है जो विषय के भेद से इंद्रियों के भेद से अवस्थाओं के भेद से धर्मों के भेद से पाप पूर्ण के भेद से देश के भेद से काल के भेद से विक्षेप समाधि के भेद से ज्ञान नष्ट नहीं होता है ज्ञान एक बिल्कुल जुदा चीज है अब उस क्षेत्र का पता लगाओ अब एक जो बात अभी समझने की है वो अब आती है वो क्या बात है कि एक एक शरीर में रहने वाला जो अंतकरण है उसका भेद होने पर भी ज्ञान में भेद नहीं होता ये मुख्य बात जो समझने की है वो यही है और एक एक अंतकरण में अलग अलग अहंकार करके जो बैठा है समझने वाला कि मैंने इस करण से मैंने इस आंख से ये देखा मैंने इस मन से ये संकल्प किया मैंने इस बुद्धि से ये सोचा समझा ऐसा जो मैं मैं करके जो अहंकार बैठा हुआ है ना उसके अलग अलग होने पर भी ज्ञान निवेश नहीं होता तो क्यों क्योंकि क्योंकि अहम अहम अहम सब में अहम अहम हो रहा है ये बात तो ज्ञान से ही मालूम पड़ती है ना ये बात ज्ञान से ही प्रकाशित होती है तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि सबके शरीर से जुदा सबके चरण से जुदा सबके अहम अहम से जुदा व्यस्टि समष्टि दोनों के अहम से जुदा महाभूता निहंकारो बुद्धि रव्यक्त में हो इंद्रियाणी बसई कंचो ये पांच महाभूत जो है ये तो क्षेत्र है अहंकार जो है समष्टि का तो वो तो क्षेत्र है रुद्र है महाभूता में जो बुद्धि महत्व है सो तो क्षेत्र है जो अव्यक्त प्रकृति है सो तो क्षेत्र है माने वो ज्ञान का विषय है ज्ञान के द्वारा ज्ञान के द्वारा वो जाना जाता है तो कोई भी वस्तु न देश न काल न वस्तु न विषय न इंद्रिय न अंतकरण न अवस्था न पाप न पुण्य न विक्षेप न समाधि न बाहर न भीतर न मर्दलोक न बैकुंठ किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो ज्ञान को अलग अलग कर सके स्वयं भगवान भी जब कभी प्रकट होंगे ना तो हमारे ज्ञान की रोशनी में भगवान की आकृति बनेगी हम देखेंगे तब में भगवान का दर्शन हुआ अगर हम नहीं देखेंगे तो भगवान का दर्शन क्या हुआ हमको मालूम ही न पड़े कि भगवान आए तो भगवान आ गए हमारे मालूम पढ़ने से ही भगवान का आना आना होता है माने हमारा ज्ञान ही उनके शुभागमन का भी प्रकाशक है तो ऐसी स्थिति में ये ईश्वर है ये भी एक ज्ञान की आकृति है ये जीव है ये भी ज्ञान की आकृति है ये प्रकृति है ये भी ज्ञान की आकृति है तो ज्ञान को खंड खंड करने वाला कोई भी पदार्थ सृष्टि में नहीं है ऐसा कोई भी पदार्थ सृष्टि में नहीं है जो ज्ञान के टुकड़े टुकड़े कर दे तो ऐसा जो असंसारी ज्ञान है वो न स्वर्ग में जाता न नरक में न उसका पुनर्जन्म होता न वो कभी बंधन में पड़ता न उसकी मुक्ति होती बंधन में भी नहीं पड़ता और उसकी मुक्ति भी नहीं होती ऐसा ज्ञान अपना स्वरूप है अपने मैं से ही है ना अहंकार से विनिर्मुक्त परिच्छिता से विनिर्मुक्त छोटे बड़ेपन से विनिर्मुक्त जो अपना महावर्त है उसी को बोलते हैं ज्ञान तो क्षेत्र क्षेत्र और ज्ञानम यज ज्ञानम मतम ममा ऐसा जो ज्ञान है इसमें वैकुंठ देश और नरक देश ये दोनों ज्ञान में ही फुरते हैं इसी ज्ञान में समाधिकाल और विक्षेप काल फुरता है इसी ज्ञान में जगत की कारणावस्था प्रकृति और कार्यावस्था ये कोटि कोटि ब्रह्मांड ये इसी ज्ञान में फूरते हैं इसी ज्ञान में कीट पतंग भी ये जंतु और इसी में ब्रह्मा आदि देवता इसी ज्ञान में फूरते हैं ये ज्ञान देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अखंड अविनाशी अनंत अद्वितीय है एक ज्ञान मतम हम इसलिए इस ज्ञान को है ना क्षेत्र क्षेत्र के यो हो ज्ञान शंकराचार्य ने एक वाक्य लिखा है केवल जैन ज्ञानी न क्षेत्र क्षेत्र विषयी क्रिय थे तज ज्ञानाम जिस ज्ञान से क्षेत्र और क्षेत्र दोनों विषयीकृत होते हैं विषयीकृत होते हैं माने बिल्कुल घड़े की तरह देखते हैं को भी क्षेत्रज्ञ और को भी क्षेत्र जिसमें रज्जु में सर्प के समान आकाश में नीलिमा के समान शीत में शीत में चांदी के समान फूट में पुरुष के समान जिस अखंड अद्वे ज्ञान में प्रकाशित होते हैं एक ज्ञानम मतम मम ऐसा जो ज्ञान है जिसको मैं ज्ञान कहता हूँ ऐसा भगवान बोल रहे अगर बच्चा की प्रमाणता लेनी हो है ना बच्चा की प्रधानता लेनी हो तो यूँ कहो तेरे खुद ईश्वर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहता हूँ है ना और बच्चा की प्रधानता न लेना हो तो एक मम ज्ञानम मताम ये मेरा ज्ञान है अगर ये ज्ञान तुम्हारा अनुभव है तुम स्वयं हो तो ये मेरी उपलब्धि है ये मेरा साक्षात्कार है इसी का नाम मेरा साक्षात्कार है फिर प्रश्नोत्तर भी सुनाते हैं बोले भाई जब सब क्षेत्रों में एक ही ईश्वर है और ईश्वर के सिवाय कोई भोक्ता नहीं है तो ये ईश्वर विचार ही सुखी हो रहा है दुखी हो रहा है वही संसारी बनकर के दुख भोग रहा है ईश्वर भी तो दुख भोग रहा है ना और यदि कहो कि ईश्वर के सिवाय भूखता और दूसरा कोई है ही नहीं तो फिर ये कहना पड़ेगा कि संसार ही नहीं है तो या तो ये कहो कि ईश्वर ही सुखी दुखी संसारी हो रहा है और या तो कहो कि पुनर्जन्म नरक स्वर्ग है ना जीव ईश्वर का विभाग ये सब नहीं है लेकिन दोनों ही बात गलत मालूम पड़ती है क्यों इसलिए कि ये बंधन से छूटने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जितना शास्त्र है वो निरर्थक हो जाता है और प्रत्यक्षादि प्रमाण से संसार की शुद्धि होती है और संसार में सुख दुख सुखी दुखी देखने में आते ही है ये भी देखने में आता है कि संसार में कोई धनी है कोई गरीब है कोई अंधा है कोई आंख वाला है कोई सुखी है कोई दुखी है तो ये अपने अपने पाप होने का फल भोग रहे हैं तो यदि आत्मा और ईश्वर दोनों एक हों तो ये सारे के सारे भेद जो है ये कट जाते हैं इनका क्या जवाब है तो बोले देखो इसका जवाब सीधा साधा है एक बात जो है वो ज्ञानी की दृष्टि में है और दूसरी बात अज्ञानी की दृष्टि में है तो शास्त्र जो है वो ज्ञानी अज्ञानी की दृष्टि का अनुवाद करके भेद का प्रतिपादन करते हैं सचमुच शास्त्र भेद का प्रतिपादन नहीं करते यदि कोई वैज्ञानिक ये विश्लेषण करे कि एक आंख वाले को दुनिया कितनी दिखती है और दो आंख वाले को कितनी दिखती है, है? यदि ये बताए कि दो पावर का चश्मा जिसको लगता है चश्मा हटा लेकिन देने पर उसको दुनिया कैसी दिखेगी है ना और दस पावर का चश्मा जिसको लगता है उसकी आंख पर से चश्मा हटा लेने पर दुनिया कैसी दिखेगी अगर वैज्ञानिक कोई इसका विश्लेषण करके और निरूपण करे और वो दोनों अलग अलग हैं कि दो पावर वाले को ऐसी दिखेगी बिना पावर वाले को ऐसी दिखेगी दस पावर वाले को ऐसी दिखेगी अंधकार की कितनी डिग्री उसको दिखाई पड़ेगी तो वो आपकी डिग्री के हिसाब से वर्णन करना हुआ अंधकार की डिग्री तो नहीं है ना वो ये नहीं कि बाहर अंधकार छाया हुआ है दो डिग्री का अंधकार है और दस डिग्री का अंधकार है और अठारह डिग्री का अंधकार है तो ये अंधकार जो है ये अंधकार की डिग्री नहीं है ये तो आंख की कमजोरी के हिसाब से ही वैज्ञानिक ने उसका विश्लेषण किया बोले इसकी आंख पर ऐसा चश्मा लगाओ इसकी आंख पर ऐसा चश्मा लगाओ तो इसको ठीक दिखने लगेगा तो ये जो दुनिया दिख रही है ये जो दुनिया दिख रही है जिसको अखंड अनंत अद्वय आत्मा से अभिन्न ब्रह्म का ज्ञान है उसके लिए ये सृष्टि कैसी है और जिसको उस अद्वय अनंत तत्व का ज्ञान नहीं है उसके लिए ये सृष्टि कैसी है ये तो आपके तारतम्य से आपके न्यूनाधिक्य से है ना और ये न्यूनाधिक भी है ना शुद्ध ज्ञान में नहीं है ये तो आपकी अपेक्षा से जैसे अंधकार में तारतम्य बताया जाता है का इसी प्रकार मनुष्य की समझ के तारतम्य से ये बात बताई जाती है सम्मान तो मान लो ईश्वर और जीव एक है तो ईश्वर को नरक में जाना पड़ेगा स्वर्ग में जाना पड़ेगा वैकुंठ में जाना पड़ेगा सुखी होना पड़ेगा दुखी होना पड़ेगा लेकिन क्या ईश्वर नरक में नहीं है क्यों डरते हो अच्छा क्या ईश्वर स्वर्ग में नहीं है सामान्य रूप से जो भक्त होता है भक्त वो भी नरक से नहीं डरता है तुम वेदांत का विचार करो और नरक में ईश्वर के होने से तुमको डर लगे है? एक भक्त कहता है कि स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना जहाँ तहाँ दीप खड़े धनुबाना हम नरक में हो तो नरक में स्वर्ग में हो तो स्वर्ग में जहाँ हो वहाँ हमें तो धनुष बाण भारी रामचंद्र दिखाई पड़ते हैं दीदी बा भूबी बा ममास नरके बा नरकाम एक हृदय के एक भक्त के हृदय में भावनात्मक भक्ति का उदय हो जाता है तो उसको नरक में भी ईश्वर का दर्शन होने लगता है और तुमने अधिष्ठान का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की और तुमको वो नरक भी ईश्वर में आरोपित नहीं दिखाई पड़ता है ना तो बनाने में दिलबिलाता हुआ कीड़ा और स्वर्ग में अप्सराओं के साथ नंदनगढ़ में विचरता हुआ इंद्र और वैकुंठ में लक्ष्मी से पांव दबवाते हुए विष्णु और समाधि में दृष्टा के स्वरूप में अवस्थित योगी का आत्मा देखना तो ये है कि तुम्हारी दृष्टि परमात्मा पर है कि तुम्हारी दृष्टि नरक स्वर्ग पर है कीड़ा मकोड़ा पर है तुम्हारी दृष्टि कहाँ है तुम क्या हो नर तो असल में ये ज्ञानी और अज्ञानी अज्ञानी को तो ऐसा लगता है कि अरे हाय हाय है ना ईश्वर यहाँ कैसे तो असल असल में यहाँ वहाँ जहाँ कहा कहा जितना है ना वो सब ईश्वर में है आप काब है आप काब काब साप जितना है वो सब ईश्वर में है यह हुआ मैं तू सब ईश्वर में है तो ईश्वर को बचाने के लिए ईश्वर में भेद की सृष्टि करने की जरूरत भेद की सृष्टि करने की जरूरत नहीं है असल में यदि ये प्रपंच ईश्वर से अभिन्न मालूम पड़ जाए सचमुच दिखने लग जाए तो प्रपंच अपनी प्रपंचता को ही छोड़ देगा कोई कहे कि अगर रस्सी में सांप है तो रस्सी को काटेगा नहीं है? बोले कि आकाश में निगिमा है तो आकाश को ये रंग नहीं देगी बोले अरे भाई आकाश की दृष्टि से तो निगिमा है ही नहीं वो रंगेगी कहाँ से तो ईश्वर की दृष्टि से ईश्वर की दृष्टि से तो ये अज्ञान और अज्ञान कृत सृष्टि है ही नहीं तो ये बिल्कुल अज्ञान के कारण ही सृष्टि में सृष्टि बना है तो शास्त्र में जो वर्णन है ये बात समझने की है दूर में थे विपरीते विसूची अविद्या जाचो विद्या ज्ञाता ये दोनों अलग अलग अज्ञानी के लिए वर्णन जो है वो दूसरे ढंग का है और ज्ञानी के लिए वर्णन जो है तो वो दूसरे ढंग का है तो ये विद्या और अविद्या की दृष्टि से वेद का वर्णन है वस्तुतः भेद नहीं है और उनका फल भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्या होगी तो तुम्हें श्रेय की प्राप्ति होगी अविद्या होगी तो प्रेय की प्राप्ति होगी द्वावत पंखान दो मार्ग है अविद्वान अविद्वान के लिए मार्ग है और विद्वान के लिए गति नहीं है उसको कहीं आना जाना नहीं है तो आपने हजार बार ये बात सुनी क्या सुनी कि ज्ञान से मुक्ति होती है और अज्ञान से बंधन है तो अज्ञान से जो होता है वो दरअसल नहीं होता है और ज्ञान से जो होता है तो पहले से मौजूद रहता है किसी को यहाँ कोई फूल न दिखता हो अज्ञान से है ना तो फूल यहाँ है नहीं ऐसा मालूम पड़ेगा लेकिन फूल तो यहाँ है है ना कि किसी को ज्ञान से मालूम पड़े कि फूल जो तो है तो फूल पहले से मौजूद था तब मालूम पड़ा तो ज्ञान से मुक्ति होती है इसका अभिप्राय है तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो और अज्ञान से बंधन है इसका अर्थ है कि तुम अपने को नहीं जानते हो इसलिए इसलिए तुम अपने को बद्ध मानते हो ये मर्यादा वेदांत शास्त्र में स्थापित की हुई है कि जो सच्ची चीज होती है वो ज्ञान से हटती नहीं जैसे घड़ी है तो अगर आप घड़ी को जानोगे तो क्या घड़ी हट जाएगी सच्ची चीज जान लेने से नहीं हटती सच्ची जो चीज होती है व्यवहार में वो कर्म से हटती है हाथ से उठाना घड़ी को हटा दें सत्य वस्तु कर्म करने से हटती है घड़ी को उठा के अलग रखना है घड़ी को यहाँ से हटाना है तो हाथ से कर्म करके हटाना पड़ेगा लेकिन अगर जानने से ये घड़ी मिट जाती है और न जानने से बनी रहती है तो घड़ी के बारे में आपका क्या ख्याल है इसका मतलब हुआ कि जैसे कोई जादू की चीज हो है जैसे कोई मन से सिद्ध वस्तु हो गए वो न जानने से तो है और जानने से मिट जाती है तो न जानने से है माने नहीं है और जानने से मिट जाती है माने नहीं है हाँ। जानने से न जानने से है माने नहीं है और जानने से मिट जाती है माने नहीं है दोनों के माने यही हुए इतना नहीं है तो जब वेद वेदांत ये कहता है कि तत्व ज्ञान से बंध मिट जाता है और तत्व ज्ञान से मुक्ति हो जाती है तो इससे ये मतलब निकला ना कि अज्ञान से बंधन है, है? और ज्ञान से मिटता है तो बंधन नहीं है ये सिद्ध हुआ तो ज्ञान से मुक्ति प्राप्त हो जाती है अज्ञान से मुक्ति नहीं है अज्ञान से मुक्ति नहीं है और ज्ञान से मुक्ति है इसका मतलब क्या हुआ कि मुक्ति स्वतः सिद्ध है मुक्ति उत्पाद्य नहीं है और बंधन निवर्त नहीं है केवल अज्ञान ही निवर्त है ये थे नवेदी अथ सत्यमस्ती नचा नचे नशे दिहावे हावेदी महती विनष्टि अगर ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हारा कल्याण है वेदांत में तुमने पढ़ा क्या तमेव विदित्वासी मृत्यु में भी धान्य पंथा विद्यते जनाया केवल परमात्मा को जान लेने से ही मृत्यु का अतिक्रमण हो जाता है इसका क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ हुआ की मृत्यु है ही नहीं तब एवं विद्वान अमृत भवती डाल लिया और अमृत हो गए इसका अर्थ हुआ कि अमृत मृत्यु है ही नहीं मान्या पंखा विद्युते अनायो विद्वान न विभेदी जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ मैं परमात्मा हूँ तो फिर उसके लिए कोई भय नहीं रहा और जो लोग अपने को सच्चे रूप में नहीं जानते वो डरते हैं वो अविद्या के चक्कर में पड़े हुए हैं और वो मैं वो दूसरा है और मैं दूसरा हूँ इस प्रकार वे पशु हो गए हैं और जो जान लेता है वो ब्रह्म ही है वो साध हो जाता है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती अज्ञान से ज्ञान आवृत है और ज्ञान से समता की प्राप्ति हो जाती है ये जो है ये हजार हजार स्मृति और शास्त्र इसके संबंध में स्पष्टम स्पष्टम निरूपण करते हैं तो महाभारत में एक प्रसंग आया है कि जब मनुष्य को पता चल जाता है कि यहाँ सांप है तो उसको छोड़ देता हूँ हट जाता है और मालूम करता है कि यहाँ कुछ का नोक है वहाँ पाँव नहीं रखता है मालूम पड़ता है कि इधर पानी बहता है नदी है तो उस रास्ते नहीं जानता है और जो जो नहीं जानता है वो उसमें गिर जाता है तो ज्ञान वाला बच जाता है और अज्ञान वाला फंस जाता है तो अज्ञान तस्तक प्रपतंत के ज्ञाने फलम पश्य यथा विशिष्टम ज्ञान का प्रत्यक्ष फल देखने में आता है कि जान लिया जान लिया तो मुक्त है और नहीं जाना तो बद्ध है केवल बंधन और मुक्ति जानने और न जानने पर ही निर्भर निर्भर करती है इसलिए धर्मानुष्ठान करने से पुण्य होता है स्वर्ग मिलता है अच्छा जन्म मिलता है सुख होता है ये सब ठीक है लेकिन धर्मानुष्ठान से मुक्ति नहीं मिलती उपासना का अनुष्ठान करने से है ना ब्रह्म लोक की प्राप्ति होगी ब्रह्मा के हजार हजार रूप तुमको दिखाई पड़ेंगे लेकिन बिना जिज्ञासा के बिना जिज्ञासा के वहाँ भी ज्ञान नहीं होगा तो भाई समाधि लगाने से चित्त वृत्ति एकाग्र हुई और दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया लेकिन जितना अज्ञान लेकर के दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होगा ना निकलने के बाद उतना ही अज्ञान फिर उसके पीछे पड़ेगा क्योंकि जब उसको मालूम है कि बाहर एक आदमी को मालूम है कि पीपल के पेड़ पर भूत रहता है, अब वो घर में किवाड़ी बंद करके बैठ गया कि बाहर तो पीपल के पेड़ पर भूत है, है? तो हम घर में बैठेंगे अब घर में कब तक बैठा रहेगा अब तो निकलेगा वो निकलेगा तो खुद करेगा वही पीपल का पेड़ दिखेगा और वही उसमें भूत देखेगा तो जो पीपल पर भूत है ये निश्चय करने के बाद घर में बैठ जाएगा है? वो जब जब घर में से निकलेगा तब तब पीपल के भूत का डर उसको लगेगा और यदि महाराज वो जांच कर ले घर में ना घुसे ऐसी जांच कर ले कि पीपल पर भूत है कि नहीं है तो बोले पत्ते खड़खड़ाते हैं इसके बोले पत्ते तो कड़े कड़े होते हैं और हवा लगने पर आपस में टकराते हैं इसलिए कड़कड़ होती है, है? इस पर तो कभी कभी रोशनी चमकती है पीपल के पत्ते में ऐसा तत्व होता है कि वो कभी कभी चमके बड़ा चमकदार होता है तो बोले अरे नहीं हमने तो इस पर से आग गिरते देखा है बोले अरे गाँव में एक आदमी बदमाश है वो कपड़े में छोटी छोटी गांठ लगा के बारूद रख देता है इस पर और आग लगा देता है और उसी में से वो आग देती रहती हमको ऐसे दिखाया हो <laughs> हमने देखा है बड़ा हम पहले कहते थे कि भाई हमने कभी भूत नहीं देखा प्रेम नहीं देखा कि क्या लोग बोलते हैं कहाँ होता है तो एक ने हमको कहा कि अच्छा हम ऐसी युक्ति करेंगे कि तुमको धूप दिख जाएगा अब हम दरवाजे पर बैठे हुए थे और बहुत दूर पर एक आम का पेड़ था तो उसने क्या हुआ रात को उसने कहा कि अच्छा भैया जी आज तुम देखना है न हाँ, आज भूत आज मैंने कह दिया है, है कि भूत अपना चमत्कार तुमको दिखा देगा अब मैं दरवाजे पर बैठा बैठक में बैठा और देख रहा हक से आग गिरी पेड़ पर से थोड़ी देर कुछ नहीं चुप बिल्कुल फिर थोड़ी देर के बाद फिर आग गिरी फिर थोड़ी देर के बाद फिर आग गिरी क्या है हाँ, मैं तो डर गया मेरे तो डर गया तो हमारे एक बड़े बूढ़े चाचा थे है ना तो उन्होंने बताया कि ये बारूद ले आया है कोई है ना बारूद ले आया है और एक लंबे कपड़े में गांठ लगा के जगह जगह जगह बारूद बांध दी है कई जगह और नीचे उसने दिया सलाई से आग लगा दी है जब वो कपड़ा जलता हुआ पहुंचता है बारूद पर तो पक्ष से टूट जाती है है ना चलो हम तुमको दिखा दें हम तो अपने के साथ चले गए और जाके देखा तो वो तो बारूद फूट के गिर रहा था वो तो कुछ नहीं था पर आप देखो आप उसके दृष्टा रहोगे दृष्टा रहोगे तो भूत का भ्रम नहीं दिखेगा और जांच पड़ताल करोगे जिज्ञासा करोगे उसके संबंध में पूछताछ करोगे तब वो भ्रम मिट जाएगा तो ये जो ये जो विश्राम में जाके बैठना है या दृष्टा होकर के चुपचाप बैठना है जब घर में से निकलोगे तब ये भ्रम ये अज्ञान ये जो संसार में जो चीजें तुमने पहले से मान रखी है वो फिर तुम्हारे सिर पड़ेंगे लेकिन यदि इस अभ्यस्त का अधिष्ठान देखो है ना ये किसमें है ये किसको भाजता है ये किसमें है ये किसको भाजता है ये क्या है ये क्यों भाजता है यदि इसका पता लगाओ तो ये क्षेत्र और क्षेत्र जो है ये एक ही ज्ञान स्वरूप परमात्मा में हाँ, तो मालूम पड़ रहे हैं तो जो मनुष्य स्थूल शरीर में या सूक्ष्म शरीर में अपने आप को मैं समझ लेता है कि यह मैं हूँ भी वो परिच्छिन्न का प्रकाशक है अधिष्ठान है परिच्छिन्न उसमें अध्यस्त है फिर भी उसको मैं मान लेने के कारण वो राग और द्वेष का आश्रय बन जाता है कर्ता बन के पाप पूर्ण करता है और जिस पार पाप पूर्ण के अनुसार अपने में सुख दुख मानता है और जो अपने को उस छोटे मैं से जुदा अनंत ब्रह्म रूप में स्वयं प्रकाश रूप में जान लेता है उसमें न राग है न उसमें द्वेष है न उसमें पाप है न उसमें पुण्य है न उसमें धर्माधर्म है तो वो तो किसी शास्त्र का विषय नहीं होता और उसका कोई खंडन नहीं कर सकता तो इसलिए केवल अज्ञान के कारण ही ये आत्मा अपने को संसारी मान करके अपने को संसारी मान करके संसारी सा हो रहा है असल में संसारी नहीं है संसारी सा हो रहा है तो इसलिए ये क्षेत्र और क्षेत्र का विवेक करके मनुष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए अब आगे का जो प्रसंग है वो